नमस्कार मित्रों आज तारीख है बारह दस मई 2013 शुक्रवार और ये जो एसएमएस कैंपेन है उस वीडियो का दूसरा भाग है मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया कि हमें एसएमएस से एमपी को ऑर्डर भेजना चाहिए और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया मैं थोड़ा सा समरी इसमें रिपीट करूंगा एसएमएस से ऑर्डर भेजने का मतलब क्या है कि आपको जो भी गवर्नमेंट में परिवर्तन चाहिए जैसे मैंने आपको दो तीन एग्जांपल दिए कि भाई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है आपको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना है मायावती को बनाना है तो आप अपने एमपी को ऑर्डर भेजो कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए या मायावती को प्रधानमंत्री बनाए फिर मैंने अपने एमपी को एसएमएस से अब तक में छह ऑर्डर भेजे हैं एक ऑर्डर ये भी भेजा है कि सीआरपीएफ के सैनिकों को आज्ञा दी गई है कि ऑर्डर दिया गया है कि यदि पंद्रह सैनिक श्रीनगर में जा रहे हैं तो उनमें से पांच के पास ही बंदूक होगी इस तरह का ऑर्डर मनमोहन सिंह ने निकाला है तो वो ऑर्डर कैंसिल हो फिर जो अभी सांसद ने संसद में वंदे मातरम गाया जा रहा था और उसने वॉकआउट किया तो मैंने अपने सांसद को एसएमएस भेजा आज भेजने वाला हूँ सॉरी आज एसएमएस भेजने वाला हूँ कि पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करो कि उस एमपी को तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाए तो इस तरह से आप अपने अपने MP को SMS भेजो तो अब इससे related कुछ question आते हैं question आता है कि भाई MP को SMS भेजने से क्या होगा तो भाई इस तरह से तो नारेबाजी से क्या होगा रैली निकालने से क्या होगा आपके अकेले के वोट देने से क्या होगा वोट देने से भी परिवर्तन तो तब आएगा ना जब 30-40 करोड़ एक पार्टी को वोट देंगे जैसे कि है कि भाई नरेंद्र मोदी देश में इतने इतने परिवर्तन ला सकते हैं पर वो कब ला सकते हैं जब 30 करोड़ लोग उसको वोट दे तो 80 करोड़ वोटर में से कम से कम 30 करोड़ लोग उसके और उसके आदमियों को फिर अरविंद गांधी के लोग बोलते हैं कि भाई अरविंद गांधी देश में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे कि भाई कैसे खत्म कर देंगे तो उनकी पहली कंडीशन होती है कि तीस करोड़ लोग हमें वोट दे वो तीस करोड़ लोग चालीस करोड़ लोग हमें वोट देंगे तो पार्लियामेंट में हमारे दो दो सौ सौ सौ तीन सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ सांसद आएंगे तो पहली कंडीशन तो हमेशा जो दूसरे एक्टिविस्ट है दूसरे एक्टिविस्ट का जो मॉडल है उसमें भी पहली कंडीशन तो यही है कि हमें 30 करोड़ लोगों का साथ चाहिए 40 करोड़ लोगों का साथ चाहिए सारे एक्टिविस्ट एक बात पे तो है ही कि भाई हमारा प्लान है हमारा विजन है वो तभी सफल होगा जब उसमें 20 30 40 50 करोड़ लोग शामिल होंगे तो एसएमएस में भी इसी तरह की बातें मेरे अकेले के एसएमएस भेजने से कुछ नहीं होने वाला वो तो मैं अभी एग्री करता हूं सवाल ये नहीं है कि मेरे एसएमएस भेजने से क्या होगा सवाल ये है कि 40 करोड़ लोगों को ये एसएमएस भेजना चाहिए या नहीं मैं 40 करोड़ क्यों लोग बोलता हूँ 40 करोड़ नहीं तो 35 करोड़ भी ठीक है 45 करोड़ भी ठीक है 50 करोड़ और भी अच्छा 40 करोड़ इसलिए बोलता हूँ कि अभी भारत में 78 करोड़ वोटर है 80 करोड़ से थोड़े कम भारत की आबादी 120, 150, 125 करोड़ के आसपास उसमें से वोटर यानी कि 18 साल की उम्र से बड़े नागरिक है करीब करीब 78 करोड़ और 80 करोड़ के बीच यानी 40 करोड़ यानी वो एक्सप्लिसिट मेजोरिटी प्रूव हो गया इसलिए मैं ये 40 करोड़ का आंकड़ा बोलता हूँ तो 40 करोड़ साल नागरिक यदि एमपी को एसएमएस से ये ऑर्डर भेजे क्या ऑर्डर भेजे वो हर एक नागरिक अपना अपना डिसीजन ले ले एक से ज्यादा भी बेच सकता है दस बेच सकता है दो सौ बेच सकता है और इसमें यदि चालीस करोड़ नागरिकों ने यदि कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर भेजा तो उस दिशा में परिवर्तन शुरू होगा तो एक यदि सिर्फ दो पांच लाख लोगों ने एसएमएस भेजा तो मैं खुद एग्री करता हूं कि इससे कोई चेंज नहीं होने वाला और वो फ्लॉ हर एक एक्टिविस्ट लीडर के मॉडल में है मान लो पूरे भारत में सिर्फ दो करोड़ लोगों ने या आठ करोड़ लोगों ने या दस करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो भी उनसे कोई परिवर्तन नहीं होगा पाएगा दस करोड़ वोट से वो अधिक से अधिक कितने एमपी ला पाएंगे अधिक से अधिक सौ एमपी ला पाएंगे एक सौ पचास एमपी ला पाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे अरविंद गांधी को मान लो दो करोड़ लोगों ने वोट दिया तो भी कुछ नहीं होने वाला दो करोड़ वोट से तो वो सिर्फ बीजेपी के तीस चालीस सीट कम कर पाएंगे उनकी तो दो करोड़ वोट से तो उनके दो तीन एमपी जीत पाएंगे एक जगह थोड़े कंसंट्रेट हो गए पूरे इंडिया में यदि हर एक सीट में उनको तीन परसेंट वोट मिलते हैं तो, तो उनका एक भी एमपी नहीं जीतेगा पर थोड़ा बहुत एक जगह कंसंट्रेशन हो गया तो उनके दो तीन एमपी चुनाएंगे तो दो तीन एमपी क्या उखाड़ लेंगे पार्लियामेंट में हर एक डिसीजन तो मेजोरिटी वोटिंग से होता है तो इसी तरह से मैं भी एग्री करता हूं कि एक करोड़ लोगों ने एसएमएस भेजा तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर यदि चालीस करोड़ नागरिक एसएमएस भेजेंगे तो अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री को मिलेंगे और कहेंगे कि भाई ये एसएमएस 40 करोड़ नागरिकों ने 50 करोड़ नागरिकों ने भेजा इसको आप गैजेट में छापिए अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं कि भाई भारत में गरीब आदमी के पास मोबाइल नहीं है तो क्या करें एक तो भारत में अभी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 50 करोड़ नागरिकों के पास एक या ज्यादा मोबाइल है 80 करोड़ वयस्क नागरिक है और उसमें से ये ट्राई का आंकड़ा है करीब करीब ठीक होगा हो सकता है पांच परसेंट ज्यादा हो सकता है पांच परसेंट दस परसेंट कम हो पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल हवा में आप अपने आजू बाजू नजर लगाओ तो आपको दिखेगा कि भाई फोर्टी फिफ्टी परसेंट लोगों के पास मोबाइल है आजकल गरीब एरिया में भी आप चले जाओगे रूरल एरिया में भी जाओगे तो भी तीस चालीस पचास परसेंट लोगों के पास मोबाइल होता है फिर दूसरा इसमें मैंने सजेशन किया कि बिगनिंग स्टेज में फिर MP कह सकता है कि भाई एक आदमी के मोबाइल पे मैं उसको और उसके फैमिली मेंबर को भी वोट डालने दूंगा यदि उसके फैमिली मेंबर एग्री होते हैं तो जैसे कि मान लो मैं मेरी उम्र 60-70 साल है मेरे पास मोबाइल नहीं है मेरा बेटा है उसकी उम्र 20 साल है 25 साल है उसके पास मोबाइल है ये मैं यदि अपनी एमपी के ऑफिस में जाके कहता हूं कि ये मेरा वोटर कार्ड है ये मेरा आ, ये मेरे बेटे का वोटर कार्ड है मेरे बेटे के वोटर कार्ड पे ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और मेरा वोट भी इसी मोबाइल पे आएगा मुझे अपने बेटे पे भरोसा है कि वो मेरे नाम से गलत नहीं डालेगा यदि मैं पर्सनली जाके कहता हूं तो एमपी उस मोबाइल पे दो वोट एक्सेप्ट कर सकता है कैसे कि यदि उसने जो एसएमएस आया एसएमएस में भले वो मेरे बेटे के मोबाइल से आया हो लेकिन यदि उसमें मेरा वोटर नंबर है तो एमपी उसको मेरा वोट मान के चलेगा दूसरा हर एक आदमी को मोबाइल फ्री में दे सकते हैं ये अडवाणी का प्रपोजल था 2009 में उन्होंने दिया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और मैंने उसको सपोर्ट भी किया था मैं अडवाणी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था मतलब मैं राइट टू रिकॉल के कानून के प्रचार के लिए इलेक्शन लड़ा था मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ा था अडवाणी जीतने वाले थे वो तो करीब करीब स्पष्ट था तो अडवाणी के मैनिफेस्टो में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था कि भाई हर एक आदमी को मोबाइल देना चाहिए और मैंने उसको सपोर्ट किया कि हाँ, ये अच्छी बात है क्योंकि कम से कम यदि देश में हर एक आदमी को मोबाइल आ जाता है तो मेरा राइट टू रिकॉल कानून आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा कैसे कि यदि पचास परसेंट सिटीजन एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजते हैं रिजाइन तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा ये मैंने अपने मैनिफेस्टो में डालने को सोचा था अप्रैल 2009 में फिर मैंने क्यों नहीं डाला अप्रैल 2009 में क्योंकि अप्रैल महीने में मेरा जो एरिया था गांधीनगर कंस्टिट्यूएंसी उसमें सिर्फ 20-25 परसेंट लोगों के पास मोबाइल था मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2009 की और पूरे भारत में तो और भी कम था आंकड़ा इससे 25-30 परसेंट से भी कम था इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब 30 परसेंट लोगों के पास ही मोबाइल है और मैं लिखता हूं कि यदि 50 परसेंट लोग एसएमएस के ऑर्डर देंगे कि रिजाइन तो वो तो एक जोक बन के रह जाएगा फिर जैसे जैसे मोबाइल की संख्या बढ़ती गई 60 परसेंट क्रॉस हो गया 70 परसेंट क्रॉस गया इस बार जब मैं इलेक्शन लड़ा दिसंबर 2012 में असेंबली का इलेक्शन लड़ा तब मेरा जो घाटलोड़िया एरिया जहां से मैं इलेक्शन लड़ा था वहां पे 70 80 90 परसेंट लोगों के पास मोबाइल है मिनिमम 85-90 परसेंट लोगों के पास मोबाइल है तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में मैंने जो अखबार में मेरा एडवर्टाइजमेंट दिया था उसमें मैंने दिया था कि मैं एक प्रॉमिस देता हूं कि यदि 50 परसेंट सिटीजन मुझे एसएमएस से ऑर्डर भेजते हैं कि रिजाइन तो मैं दूसरे दिन रेजिग्नेशन दे दूंगा उसी दिन रेजिग्नेशन दे दूंगा और मैंने सारे एमपी एमएलए को चैलेंज किया कि आप इस तरह का ऐसे में का प्रॉमिस देने को तैयार हो और मैंने नागरिकों को भी पूछा कि आप अपने एमएलए से ये प्रॉमिस लिखवाइए कि यदि 50 परसेंट लोग एसएमएस से रेजिग्नेशन का ऑर्डर भेजते हैं तो एमएलए है वो रिजाइन करेगा किसी एमएलए ने बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या सीपीएम का हो उसने एमएलए कैंडिडेट ने इस बात को नहीं स्वीकारा सब बीजेपी के कांग्रेस के एमपी एमएलए सब यही बोलते हैं कि एक बार इलेक्ट हो गए उसके बाद 50 परसेंट तो क्या 100 परसेंट एमएलए अरे 100 परसेंट सिटीजन बोलेंगे कि रिजाइन तो भी हम रिजाइन नहीं करने वाले उनसे जो उखाड़ना है उखाड़ लें वो बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों में से कोई पार्टी राइट टू रिकॉल को एक्सेप्ट नहीं करती अडवाणी ने ओपनली अपोज किया राइट टू रिकॉल को खैर वो उनकी बात है लेकिन मैंने अडवाणी के इस प्रॉमिस को सपोर्ट किया था कि भाई हर एक आदमी को फ्री में मोबाइल देना चाहिए कोई महंगा नहीं आता 400-500 रुपए का आता है मैक्सिमम तो एमपी का जो एमपी लैड फंड है वो साल का दो तीन करोड़ होता है यानी पांच साल का कुछ दस पंद्रह करोड़ जितना हो गया तो उसमें से वो पांच लाख जितने मोबाइल खरीद के लोगों में दे सकता है तो एक एमपी में बीस लाख वोटर होते हैं 20 लाख में से दस लाख के पास तो मोबाइल होगा बाकी पांच लाख को वो एमपी लड़ के थ्रू फ्री में मोबाइल दिला सकता है और फैमिली मेंबर को रजिस्टर करवा सकता है तो एक मोबाइल पे दो तीन लोग अपना यस नो भेजेंगे और उसके द्वारा वो 70-80 परसेंट कंस्टिट्यूएंसी को कवर कर सकता है अब मान लो किसी के पास मोबाइल नहीं है क्योंकि एमपी लैड में भी पांच साल लगेंगे एक साल लगेगा दो साल लगेगा तो एमपी उनके लिए ये प्रोसीजर रख सकता है कि आपको यदि कोई यशनो को रजिस्टर कराना है तो आप मोबाइल से कीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है आपके फैमिली मेंबर के पास मोबाइल है आपको आपके फैमिली मेंबर पे भरोसा है तो उसके मोबाइल के थ्रू करिए वो एक्सेप्ट कर लूंगा मैं एमपी इसमें एक मोबाइल पे तीन या चार पांच पड़ोसी को भी अलाउ कर सकता है करना हो तो देखो ये सारी चीजें यदि एमपी में नियत है तो की बात है यदि उसकी नियत खोखली है जैसे सेवेंटी एटी नाइनटी शायद 100% MP की नियत खोखली है तो उनमें से वो कोई कुछ नहीं करने वाला पर MP को यदि 50% population को cover करना है तो आज की तारीख में कर सकते हैं क्योंकि 50% लोगों के पास मोबाइल है नहीं है तो वो उनको सिम कार्ड खरीद के दे सकता है BSNL का सिम कार्ड 100 रुपए 150 का आता है और जो पुराने मोबाइल है वो बहुत सारे लोगों के वो फ्री में भी मिल जाते हैं आजकल लोगों गरीब आदमी के पास मोबाइल नहीं है तो उसकी वजह ये नहीं है कि उसके पास खरीदने के लिए 500 रुपए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री में मोबाइल देने को तैयार है जैसे कि मैंने जब नया मोबाइल खरीदा तो मेरे जो असिस्टेंट सर्वेंट वगैरह मैंने उनको पुराना मोबाइल फ्री में दे दिया था इस तरह से बहुत सारे लोग हर साल नया नया मोबाइल खरीदते हैं और वो पुराना मोबाइल है वो एब्सोल्यूट फ्री में दे देते हैं बहुत सारे ट्रस्ट भी मिल जाएंगे जिनके पास काफी पैसा होता है चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए वो भी उनको मेन प्रॉब्लम होता है वो सिम कार्ड खरीदने के लिए हर महीने जो पैसा देना पड़ता है वो पैसा उनके पास नहीं देता तो एमपी है वो टेलीकॉम मिनिस्टर को बोल सकता है कि हर एक आदमी को पास यदि बीएसएनएल का एक ही मोबाइल है उसके पास तो उसको मोबाइल पे 100 मिनट का टॉक टाइम और 100 एसएमएस फ्री में मिलने चाहिए और वो एमपी को एसएमएस भेजता है तो वो फ्री काउंट होना चाहिए मतलब एमपी चाहे तो ये सारी चीजें करवा सकता है अब एंड में मान लो आदमी के पास मोबाइल नहीं है तो एमपी सिटीजन को स्मार्ट कार्ड दे सकता है और वो स्मार्ट कार्ड अपने ऑफिस से वो बाई पोस्ट भिजवाए और स्मार्ट कार्ड है उसको डुप्लीकेट करना मुमकिन नहीं है आप गूगल करो स्मार्ट कार्ड क्लोनिंग डुप्लीकेट तो आपको मिलेगा कि अब स्मार्ट कार्ड की जो स्मार्ट कार्ड की कॉस्ट आती है बीस रुपए से पचास रुपए तक की वो प्रैक्टिकली अब अनक्लोनेबल हो गया जैसे ये मेरे मोबाइल का सिम कार्ड है वो सिम कार्ड यदि आपके हाथ में आ गया तो भी आपको क्लोन करने में लेने के देने पड़ जाएंगे इतना आसान नहीं है और यदि सिम कार्ड मेरे पास है तो तो उसको क्लोन करना नामुमकिन है तो इस तरह से यदि वोटर ने एक आदमी ने यदि वोटर का पास जो स्मार्ट कार्ड है वो क्लोन किया तो एक का कर लेगा दो का कर लेगा दस का कर लेगा वो हजार दस हजार का नहीं कर पाएगा और वोटर है वो स्मार्ट कार्ड लेकर एमपी के ऑफिस आए और उसके द्वारा वो यस नो रजिस्टर कर सकता है कैसे कि एमपी है वो टच स्क्रीन रख सकता है टच स्क्रीन है वो अनपढ़ गवार आदमी भी आजकल चला लेता है जैसे अनपढ़ गवार आदमी मैंने देखे जो कि एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं कैसे कैसे एटीएम पे टच स्क्रीन होता है तो वो अपना स्मार्ट कार्ड डाले स्मार्ट कार्ड में पिन की भी जरूरत नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पिन नंबर भी रख सकते हैं वो अपना पिन डाले और उसके बाद जो भी चीजों पे उसको यस नो रजिस्टर करना है वो यस नो रजिस्टर करे अब क्वेश्चन आता है कि प्रपोजल रखने की बात प्रपोजल रखने की बात आती है तो जो गरीब आदमी है जिसके पास कंप्यूटर नहीं है या आ, कुछ भी आ, लंबा एसएमएस नहीं भेज सकता वो क्योंकि जो सस्ते मोबाइल है उससे लंबा एसएमएस नहीं भेज सकते उसकी प्रपोजल मान लो दो तीन पेज की है तो वो कैसे रजिस्टर करा सकता है कि वो दो तीन पेज वो 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट करा ले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो एफिडेविट फ्री में करके देते हैं सरकारी कचहरी पे हर एक कलेक्टर की कचहरी पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको मिलेगा जो कि फ्री में एफिडेविट कर लेता है तो अधिकतर तहसीलदार की कचहरी में भी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है जो कि फ्री में एफिडेविट करके देता है और वो एफिडेविट वो एमपी के ऑफिस में जाके रजिस्टर कराए एमपी है वो पर पेज बीस रुपया फी ले सकता है और ये भी कह सकता है कि मैं पर सिटीजन एक एफिडेविट फ्री में लूंगा या तो पर पेज बीस रुपया फी ले ले तो थोड़ा ही खर्चा आएगा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा अब इसमें एक बात ध्यान रहे कि ये जो प्रपोजल है ये जो पूरा सिस्टम मैं प्रपोज कर रहा हूं कि एस के द्वारा एमपी को ऑर्डर भेजना वो पब्लिक कॉज के लिए है प्राइवेट कंप्लेन के लिए नहीं प्राइवेट कंप्लेन के लिए ज्यूरी सिस्टम और वो सब अलग-अलग प्रोसीजर है प्राइवेट कंप्लेन जो है प्राइवेट कंप्लेन यानी एक आदमी की कंप्लेन हो लेजिटिमेट हो सकती है प्राइवेट कंप्लेन का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा गलत हो कि एक आदमी ने पैसा दिया है बिल्डर उसको फ्लैट नहीं दे रहा तो वो प्राइवेट कंप्लेन है और वो गलत है ऐसा नहीं बोलता पर वो प्राइवेट कंप्लेन है पब्लिक कंप्लेन क्या है कि भाई फ्लैट मेरे नाम का है वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका नेगेटिव एडवांटेज क्या है कि मैं मान लो बॉम्बे गया छह महीने एक साल के लिए और वहां किसी ने मेरा फ्लैट बेच दिया और मुझे पता भी नहीं चलता मुझे एसएमएस भी नहीं आता आज मैं मेरा क्रेडिट कार्ड खो जाता है और मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर का कोई मिसयूज करता है तो मुझे एसएमएस आता है तो मुझे तुरंत पता लगता है तो मैं क्रेडिट कार्ड का को रो, रोक सकता हूं कि भाई ये मिसयूज हो रहा है मेरे क्रेडिट कार्ड का जबकि मेरा घर भी जाता है तो मुझे कोई एसएमएस नहीं आता कोई ईमेल नहीं आता कोई लेटर भी नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया रेवेन्यू मिनिस्टर ने लैंड रिकॉर्ड के मिनिस्टर होता है रेवेन्यू मिनिस्टर यानी कि इस तरह का सिस्टम कि भाई आपका घर बिक रहा हो तो आपको एसएमएस आए तो वो सिस्टम नहीं है और ऐसा सिस्टम होना चाहिए वो पब्लिक कॉज हुआ तो पब्लिक कॉज में यदि सैकड़ों आदमियों की कंप्लेन है तो कोई ना कोई आदमी अपने खर्चे पे 20-50 रुपए कोई हजार दो कोई लाख दो लाख का खर्चा नहीं है इसमें एफिडेविट बनाने में रजिस्टर कराने में मुश्किल से 100-200 रुपए का खर्चा आएगा पब्लिक कॉज है तो एक ना एक आदमी उसको लिए एफिडेविट करने को तैयार हो जाएगा और उसके बाद नागरिकों को सिर्फ शॉर्ट कोड ही भेजना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एमपी को रिक्वेस्ट करो या ऑर्डर करो जो भी आपको ठीक लगता है कि वो इस तरह का सिस्टम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में खड़ा करे कैसे कि उसका एमपी लाड का तीन करोड़ रुपया आता है साल का दो तीन करोड़ रुपया आता है और उसके द्वारा वो इस तरह का सिस्टम खड़ा कर सकता है कि दो करोड़ में से आ, उसके दस बीस लाख वो ऑफिस में खर्च करे और वो ऑफिस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगी तो ऐसा नहीं है कि एमपी की जेब में चला जाएगा वहाँ पे आदमी आके कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है वो जो एमपी का आदमी है वो उसको स्कैन करेगा पर पेज बीस रुपया फी लेगा उसको देखेगा कि भाई इसमें कहीं गाली गलौट नहीं है डिफेमेटरी नहीं है उसको वेबसाइट पर रखेगा और फिर उस कंस्टिट्यूएंसी का कोई भी आदमी एसएमएस के द्वारा उस पर यस नो रजिस्टर कर सकता है यानी ये सिस्टम है वो एमपी एमएलए खुद अपने पैसे से अपने पैसे से यानी उनको जो डेवलपमेंट का पैसा मिलता है गवर्नमेंट की ओर से उसके पैसे पे खड़ा कर सकते हैं प्राइवेट सिस्टम क्यों नहीं खड़ा कर रहे मुझे एक ऐसा क्वेश्चन आया कि आप ऐसे आप खुद ही इस तरह का सिस्टम क्यों नहीं खड़ा कर रहे कि देखो उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोई लीगल वैल्यू नहीं है ऑथेंटिसिटी नहीं है पॉलिटिकल वैल्यू भी नहीं है लीगल वैल्यू तो शायद एमपी के सिस्टम की भी ना हो क्योंकि जब तक ये चीज गैजेट में नहीं छपती और गैजेट में छापने का पावर एमपी के पास नहीं है वो पीएम सीएम के पास है तब तक इसकी लीगल वैल्यू नहीं है लेकिन एमपी शुरू करता है तो उसकी पॉलिटिकल वैल्यू है क्योंकि एमपी है वो उस कंस्टिट्यूएंसी में जो पंद्रह लाख वोटर है उनमें से तीन चार पांच लाख छह लाख लोगों के वोट लेने के बाद वो एमपी बना है जबकि मैं अपना सिस्टम शुरू करता हूं तो उसका कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है कि लोग मेरा वेबसाइट देख के बोल सकते हैं कि भाई ये तो एकदम फर्जी वेबसाइट है इस पर तुमने मोबाइल नंबर रखे वो सब गलत है और मैं मोबाइल नंबर रख नहीं सकता क्योंकि उसमें तो मान लो मैं आपने मुझे कोई एसएमएस भेजा तो मैं आपका एसएमएस रखूंगा मोबाइल के आखिरी चार आंकड़े रखूंगा पर यदि मैंने आपका मोबाइल नंबर रखा तो आपको प्रॉब्लम किस सेंस में हो जाएगी कि बहुत सारे स्पैम एसएमएस आने शुरू हो जाएंगे धमकी या गुंडागर्दी का प्रॉब्लम नहीं आपका मोबाइल नंबर वैसे भी 500 बीसीओ लोगों के पास होता है आपने में से कुछ लोगों ने फेसबुक पे भी डाला होगा अलग-अलग वेबसाइट पे भी रखा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल नंबर मिल गया तो धमकी पर स्पैमिंग का प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाएगा फिर दूसरा मेरे जो वेबसाइट है उसका कोई वैल्यू इस सेंस में नहीं है कि मुझे सिर्फ सात साढ़े सात आठ हजार लोगों साढ़े सात हजार लोगों ने वोट दिया था तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि भाई देखो लाखों लोगों पर मुझ पर भरोसा है जबकि एमपी यदि एसएमएस करता है तो उसकी वैल्यू है क्योंकि एमपी के पास कुछ पॉलिटिकल पावर भी है आपने मेरे वेबसाइट पे प्रपोजल डाला तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ मैं अधिक से अधिक एमपी को कागज लिख सकता हूँ मैं एमपी को एसएमएस भेज सकता हूँ या मैं पीएम को कागज लिख सकता हूँ या मैं पीएम को तो वो तो आप भी कर सकते हो मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है जबकि एमपी के पास फर्क है कोई स्पीकर को ऑर्डर दे सकता है एमपी यदि दो पांच दस पंद्रह पचास एमपी स्पीकर को ऑर्डर देते हैं कि ये कानून पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए रखो तो स्पीकर को डिस्कशन के लिए रखना पड़ेगा यानी कि गाड़ी लीगल पटरी पे आगे बढ़ रही है आप एमपी के वेबसाइट के द्वारा मेरे वेबसाइट के द्वारा गाड़ी आगे बढ़ रही है किस तरह से पॉलिटिकल कैंपेन की तरह से तो वो तो वैसे भी चल ही रहा है हम एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेज रहे हैं, अखबार में एडवर्टाइज दे रहे हैं, तो हमारा राइट टू रिकॉल का कैंपेन तो बढ़ ही रहा है। फिर भी मैं एक वेबसाइट शुरू करूंगा, फिर मेरा दूसरा भी प्रॉब्लम मेरा टाइम का प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं ये सारा काम पार्ट टाइम करता हूँ। मैं पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता हूँ, उससे जो पैसा आता है, उससे मैं अखबार में एडवर्टाइज देता हूँ, सारी पैम्पलेट छापता हूँ, लोगों को बाई पोस्ट भेजता हूँ। तो फिर टाइम का फैक्टर रहता है कि मेरे पास पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए दिन में चार-पांच घंटे ही होते हैं और मैं स्टाफ भी नहीं रख पाता क्योंकि मैं डोनेशन नहीं लेता मेरी जो इनकम है मैं उसी से काम चलाता हूं इसलिए मैं वो वेबसाइट खड़ा करने की कोशिश करूंगा पर मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टाइम में हो पाएगा लेकिन एमपी के पास एमपी लाड का पैसा है वो ये वेबसाइट शुरू करवा सकता है तो अब मैं समराइज करूंगा कि जो हम नारेबाजी करते हैं टोपी पहन के घूमते हैं आम आदमी की टोपी या जो भी टोपी पहननी है वो करना है तो करो वो फिजूल टाइम वेस्ट है फिर करना है तो करो लेकिन साथ साथ में आप अपने एमपी एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजना शुरू करो आप अपने नेता को कहो कि वो भी अपने एमपी एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजे जैसे मैंने आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई आप ये कागज इकट्ठा कर रहे हो कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे वगैरह वगैरह आप एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर क्यों नहीं भेजते तो उन्होंने मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे कि एक आदमी ने 10 सिम कार्ड खरीद लिए तो मैंने कहा वो पकड़ा जाएगा जब वो आदमी को बोलो कि भाई सिम कार्ड पे वोटर कार्ड नंबर रजिस्टर करे तो एक ही सिम कार्ड पे उसको 10 वोटर कार्ड रजिस्टर करने पड़ेंगे तो वो पकड़ा जाएगा सिस्टम उसको रिमूव कर देगी फिर पूछा कि भाई एक आदमी ने पांच एसएमएस भेज दिए तो तो वो सिस्टम तो वहीं पकड़ लेगा कि भाई एक ही मोबाइल है उससे पांच बार यस आया वो पांच का एक कर देगा फिर कहा लोगों के पास मोबाइल नहीं है मैंने कहा दिल्ली में तो 70-80 परसेंट लोगों के पास मोबाइल है अभी तो आपकी एक्टिविटी दिल्ली तक सीमित है तो दिल्ली में तो ये करो बाकी भारत में ये कम चलेगी ऐसा नहीं है नहीं चलेगी कम रफ्तार से चलेगी लेकिन दिल्ली में तो काफी तेज दौड़ेगी तो उनके सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने कहा तो कुछ कुछ कार्यकर्ताओं ने एसएमएस से ऑर्डर भेज भी दिया एमएलए को फिर मैंने कहा कि आप अरविंद गांधी को बोलो कि वो भी एसएमएस से एमएलए को रिक्वेस्ट भेजे ऑर्डर भेजे जो भी वो ऑर्डर भी भेज सकता है लेकिन मान लो अरविंद गांधी कहते हैं कि वो दिल्ली के वोटर नहीं है वो शायद गाजियाबाद पता नहीं जहां भी है तो वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ऑर्डर नहीं तो या तो उनके जो दिल्ली के साथी है सीनियर लोग है भूषण वगैरह वो तो ऑर्डर भेज सकते हैं क्योंकि वो तो दिल्ली के वोटर है तो आप उनको बोलो तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं उन्होंने अरविंद भाई ने एसएमएस से ऑर्डर एमएलए को ऑर्डर भेजने से मना किया है मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है उनको एसएमएस से ऑर्डर भेजने की इतना अनशन कर रहे हैं स्टील के ग्लास में जूस पानी जो भी है पी रहे हैं स्टील के ग्लास में आ, और ये इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं प्रेस पे इतनी गालियां दे रहे हैं इसको गालियां दे रहे हैं उसको गालियां दे रहे हैं तो एमएलए को एक एसएमएस से ऑर्डर भेजने में क्या जाता है उनको पर प्रॉब्लम ये आता है कि एक बार नागरिक को ये लत लग गई जो मेरा काम जो मैं चाहता हूं मैं मैं जब आपको बोलता हूं कि आप इस मुद्दे पे एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो, आप इस मुद्दे पे एमपी को एसएमएस भेजो, तो मेरा मेन गोल क्या है कि आपको एसएमएस भेजने की आदत पड़े। आप एक एसएमएस भेजोगे, मैं आपको 100 एसएमएस भेजने को कहता हूं, आपने 100 में से 99 एसएमएस नहीं भेजे, लेकिन यदि एक एसएमएस का प्रपोजल आपको अच्छा लगा, या आपने अपने मर्जी से कोई 100 को सारे के सारे अच्छा नहीं लगा और मर्जी से 101वां सोचा जो कि आपको अच्छा लगा, तो आप एक बार एसएमएस से जब ऑर्डर भेजोगे तो आप नेता से आजाद हो जाओगे ये अलग तरह की आजादी की मैं बात बोल रहा था कि यदि मैं 1940 में भारत में आता जब अंग्रेजों से आजाद होने की बात कर रही थी हो रही थी तो मैं कार्यकर्ताओं को कहता कि आप पहले दुरात्मा गांधी की मानसिक गुलामी से आजाद हो जाओ क्योंकि दुरात्मा गांधी कहते हैं कि पानी तो आप कहते हो पानी उन्होंने कहा दिन तो आप कहते हो दिन वो कहते हैं तलखा तलवार फेंक दो चरखा घुमाओ तो आपने तलवार फेंक दी चरखा घुमाना शुरू कर दिया वो कहते हैं कि बंदूक फेंक दो भजन गाओ तो आपने बंदूक फेंक दी भजन गाना शुरू किया मतलब अंग्रेजों की तो फिजिकल गुलामी थी आप दुरात्मा गांधी के जो मानसिक गुलामी के गुलाम बन गए हो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि उसकी वजह से टाइम पास हो रहा है फिर इसी तरह से जो आज कार्यकर्ता किस तरह से अरविंद गांधी के मानसिक गुलाम हो गए कि एसएमएस का प्रपोजल उनको 100 परसेंट सच लगने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि भाई अरविंद भाई एसएमएस भेजने से मना कर रहे हैं इसलिए हम एसएमएस नहीं भेजेंगे फिर मैंने अरविंद भाई से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ये एसएमएस का प्रपोजल मैं नहीं कर रहा उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे तो सारे टेक्निकल क्वेश्चन का भी मैंने जवाब दे दिया और अंत में कहते हैं कि नहीं मैं अपने वॉलेंटियर को कहने वाला हूं कि वो एसएमएस से ऑर्डर ना भेजे मैं ये एसएमएस की ऑर्डर भेजने की प्रपोजल और उसका कारण यही है कि नागरिक ने खुद एमपी एमएलए को ऑर्डर भेजना शुरू किया तो वो अरविंद गांधी से आजाद हो जाएंगे और उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी कैसे खत्म हो जाएगी कि आज बिजली पानी के मुद्दे पे उन्होंने लोगों के पास सिग्नेचर कराया कागज पे वो दस लाख कागज लेके तो इससे अरविंद गांधी की एक नेता की तरह वैल्यू उभर आई अब उन्होंने दिल्ली के लोग तो ये भी चाहते हैं कि बांग्लादेशियों को निकाला जाए लेकिन बांग्लादेशियों पे उन्होंने कागज नहीं लिखवाया क्योंकि एमडी टीवी और बहुत सारे टीवी चैनल है उनको सऊदी अरेबिया से पैसा आता है और वो टीवी चैनल वालों ने बोला कि भाई आप यदि बांग्लादेशियों का मुद्दा छेड़ोगे तो हम आपको कवरेज नहीं देंगे इसलिए अरविंद भाई ने बांग्लादेशियों का मुद्दा फेंक दिया लेकिन यदि नागरिकों को एसएमएस भेजने की आदत डाली जाए तो आज वो बिजली पानी के मुद्दे पे एसएमएस भेजेंगे और कल अरविंद भाई कहते हैं कि नहीं बांग्लादेशियों को भारत में रहने दो तो नागरिक कहेगा भाई ऐसी की तैसी है तो गलत बात है मैं तो अभी एमएलए को ऑर्डर भेज देता हूं कि बांग्लादेशियों को गिन गिन के निकालो तो एम नागरिक को पास जब सीधा वो एमएलए को ऑर्डर भेजेगा डायरेक्ट कांटेक्ट टू गॉड में की बात करता हूं तो पुजारी बीच में से निकल गया पुजारी की दुकान खत्म हो गई अब आप भगवान से मतलब एमएलए एमपी एमएलए मतलब लीगल लीगल सेंस में वो भगवान क्यों है क्योंकि कानून बनाने का पावर उसके हाथ में है वो मोरली वो भगवान नहीं है क्योंकि करप्ट है पर कम से कम वो लीगल सेंस में भगवान के जितना पावर क्यों क्योंकि कानून बनाने का पावर आज भी एमपी एमएलए के पास है तो एक बार आप सीधा जब एमपी एमएलए पे दबाव डालने का टैक्टिक टेक्निक मेथड आपके पास आ जाएगा तो बीच में जो नए नेता उभर के आ रहे हैं अन्ना अरविंद गांधी सुब्रमण्यम स्वामी इन सबकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और ये जो नए पुजारी है नए बिचौलिए हैं नए मिडलमैन है वो नहीं चाहते कि आम आदमी या आम कार्यकर्ता सीधा अपने एमपी को एमएलए को ऑर्डर भेजे इसलिए उन्होंने इस प्रपोजल का विरोध किया तो आपको जो भी टेक्निकल क्वेश्चन हो आप मेरे फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक नोट्स पे आपको आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल के नोट्स सेक्शन में जाओगे तो order your MP via SMS इस टॉपिक पे आपको तीन नोट्स मिलेंगे आप पूरा नोट्स का सेक्शन खोल के आप सर्च करना एसएमएस पे तो आपको चार पांच नोट्स मिलेंगे उनमें से तीन नोट्स में मैंने ये सारे टेक्निकल मुद्दे एक्सप्लेन किए हैं मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि अरविंद गांधी ने एसएमएस से ऑर्डर भेजने के से क्यों मना किया वो पैसे की बात करने लगे कि भाई इसमें तो कितना सारा खर्चा हो जाएगा दस करोड़ लोग एसएमएस भेजेंगे भाई क्या खर्चा होगा एक एसएमएस की कीमत आती है पांच पैसा मान लो दिल्ली का हर एक आदमी एसएमएस भेजता है एक करोड़ वोटर है दिल्ली में तो खर्चा आया पांच लाख अब एक कागज की कीमत कितनी है एक मिनिमम बीस पच्चीस पैसा उसमें आपने छपवाया आगे पीछे उसका ऑफसेट का खर्चा 10 बीस पचास यानी कागज छापकम के साथ उसका खर्चा मिनिमम 50 पैसा है वो कार्यकर्ता इधर उधर लेके घूम रहा है कागज उसका पेट्रोल का खर्चा उसका पूरा दिन गया वो चलो वो बात ठीक है पर एक बार तुमने मैंने साइन ले लिए वो कागज कार्यकर्ता ने ले लिया अब वो जो नागरिक है वो दस आदमियों को फॉरवर्ड नहीं कर सकता जबकि एस यदि कार्यकर्ता उसको बोलता है कि भाई ये एसएमएस आप भेज सकते हो अपने मोबाइल से वो आदमी एग्री हो जाता है कार्यकर्ता ने उस आदमी को एसएमएस फॉरवर्ड कर दिया अब उसने एमएलए को भेजा एमपी को भेजा सीएम को भेजा पीएम को भेजा आ, पार्टी के सर्वर पे भेजा ऐसा रिकॉर्ड अब उस नागरिक को यदि बात अच्छी लगी कि ये बांग्लादेशियों को निकालने की बात अच्छी है या तो ये एमपी को तीन महीने के लिए सस्पेंड करने की बात अच्छी है तो वो अपने 20 25 50 लोगों को फॉरवर्ड कर सकता है तो इससे प्रचार का काम है वो और ज्यादा गति से चलेगा यानी कागज के मुकाबले में खर्चा वन टेंथ है और मेहनत वन परसेंट है सौवे भाग की मेहनत है तो भी इन्होंने विरोध किया क्योंकि इसमें देखो यदि एक करोड़ दिल्ली के नागरिक बिजली पानी पे मुद्दे पे एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजते हैं तो अरविंद गांधी को क्या मिला जीरो कुछ नहीं ना उनका अखबार में फोटो छपेगा उनको बस थोड़ी बहुत क्रेडिट मिलेगी कि सबसे पहला एसएमएस इन्होंने भेजा बस थोड़ा क्रेडिट मिलेगा पर जो सारे कार्यकर्ता उनके नाम की टोपी पहने घूम रहे हैं या उनके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा जबकि यदि एक हजार कार्यकर्ता गलियों में कागज लेके घूम रहे हैं तो इससे उनकी पार्टी को नाम मिलेगा वोट काटे वो, मतलब वोट मिलेंगे यानी बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब के वोट काटने में उनको सहूलियत मिलेगी और इस तरह से उनको मेथड तो ये जो कागज लिखने का काम है वो अंत में आपको यानी नागरिक को कार्यकर्ताओं को क्या देगा सिर्फ एक नया नेता देगा जबकि यदि आप सीधा एमपी एमएलए को एसएमएस भेजोगे तो आपको अच्छे कानून मिलेंगे ये फर्क है आपको यदि सिर्फ एक नया नेता चाहिए दिन देश में इतने नेता कम थे जो आप एक और नया ला रहे हो ये उम्मीद लेके कि वो बिकेंगे नहीं मतलब वो नहीं बिकेंगे चलो मान लिया लेकिन इस उम्मीद के साथ कि उनके 500 आदमी जो पार्लियामेंट में आएंगे उनमें से 400 नहीं बिकेंगे इसमें फर्क है यदि आप कहते हो कि अरविंद गांधी नहीं बिकने वाले मैं आपके बात मान लूंगा क्योंकि एक आदमी न बिके एक आदमी को यदि इतना सारा नाम मिल रहा हो तो शायद वो पैसे के पीछे न भागे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको जिनके लिए नाम ही पैसा होता है और बाकी जब तक उन खाने पीने जितना तो पैसा है उनके पास उनके पास दवाइयों का पैसा है मतलब CGHS central government health services में है कि भाई आपका आपके हस्बैंड या आपके वाइफ यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास वन ऑफिसर है gazetted officer class one officer etcetera तो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड यानी एक करोड़ जितना मेडिकल अलाउंस लाइफ लॉन्ग कभी भी रिटायर होने के बावजूद भी मिलता है तो आजकल सबसे बड़ी चिंता आदमी को होती है वो घर की होती है वो प्रॉब्लम सोल्व गया ये दवाई की होती है तो वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया अब एक पॉइंट के बाद कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जिन्हें बंगला गाड़ी महल वगैरह नहीं चाहिए अब उनको नाम चाहिए तो मैं मान लूंगा कि चलो एक आदमी नहीं बिकेगा पर यह मान लेना कि उनके 500 एमपी आएंगे और 500 में से 500 में से 400 बिकेंगे नहीं ये अनरियलिस्टिक और फॉल्स एजम्पन है तो ये फॉल्स एजम्पन को भी आप आ, मानो तो अंत में आपको ये कागज लिखाई पट्टी करने से अधिक से अधिक आपको क्या मिलेगा 500 नए एमपी मिलेंगे जिनमें से 400 एमपी दूसरे दिन बिक जाएंगे जबकि नागरिक यदि सीधा एमपी को एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजना शुरू करते हैं तो उससे अच्छे कानून आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मैं इसमें एक और एड कर दू कि मेरी एक और बात हुई थी उनसे अक्टूबर दो में अक्टूबर दो में मैंने उनको और फिर बाद में जब वो दोबारा अनशन पे बैठे ये 2012 में जुलाई 2012 में कि जन लोकपाल की मांग है तो आप ने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजा कि जन लोकपाल का कानून पास करो तो उसने बोला कि एसएमएस से ऑर्डर भेजने से क्या होगा एमपी डिलीट कर देगा मैंने कहा नारेबाजी से क्या होगा पोस्टर लगाने से क्या होगा तुमने आज कोई पोस्टर लगाया कल दूसरे दिन आके म्यूनसिपालिटी वाला उसको फाड़ देगा पुलिस वाला आके उसको फाड़ देगा अब आप दस लाख लोगों को एक करोड़ लोगों को बोल रहे गलियों पे आओ तो दस करोड़ लोगों को ये क्यों नहीं साथ साथ बोलते कि भाई एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो दो मिनट का काम है एक मिनट का काम है एक के एक पॉइंट के बाद तो सारा फॉरवर्डिंग ही हो जाएगा हर एक को आदमी को टाइप तो करना नहीं पड़ेगा तो भी उन्होंने जनलोकपाल के मुद्दे पे भी अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहा कि एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि जनलोकपाल का कानून पास करे क्यों क्योंकि यदि कार्यकर्ताओं को ये कहा होता तो कार्यकर्ता फिर ये भी एसएमएस भेज देते कि Jan Lokpal with right to recall Jan Lokpal का कानून पास करो तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती उनको राइट टू उनको लोकपाल कानून चाहिए था जिसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल ना हो जबकि यदि कार्यकर्ता या नागरिक सीधा एमपी एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजते तो पहला एसएमएस वही भेज दिया जो उन्होंने बोला था बाद में हर एक नागरिक कार्यकर्ता हर एक नागरिक नहीं तो कम से कम कार्यकर्ता अपना दिमाग लगाएगा कि ये दस लोकपाल बिक गए मल्टीनेशनल कंपनी के एजेंट हो गए जैसे मनमोहन सिंह मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट हो गया है वॉलमार्ट का या जो भी है तो तो देश पूरा का पूरा जाएगा तो तुरंत वो दूसरा एमएलए दूसरा एसएमएस एमपी को भेजेगा कि पास Jan Lokpal law with right to recall Jan Lokpal law तो उसमें अरविंद गांधी इस गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे तो मैं आपको क्यों ये एसएमएस की बात कर रहा हूं क्योंकि नागरिक खुद एसएमएस को नागरिक खुद अपने सांसद को एसएमएस से ऑर्डर भेजे ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें नेता सिर्फ एक्सीलरेटर दे सकता है ब्रेक नहीं डाल सकता वो इसको तीतर बीतर भी नहीं करता जैसे जन लोकपाल का आंदोलन उन्होंने स्टीयरिंग घुमा के इलेक्शन की साइड पे ले गए कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाए लेकिन यदि कार्यकर्ता सीधे एमपी को एसएमएस भेज रहे होते तो आंदोलन को मैन्युपुलेट करने की ताकत जो नेता में है वो खत्म हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने सांसदों को एसएमएस से ऑर्डर भेजना शुरू करें क्या ऑर्डर जो भी आपको ठीक लगता है धन्यवाद